और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए हैं ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और ताकि तुम उसके फजल में से तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो